चुनाचे हमने उसको और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया फिर उसके लिए कोई ग्रोह ऐसा ना था जो अल्लाह ताला के मुकाबले में उसकी मदद करता और ना वो खुद ही अपना बचाव करने वालों में से था